आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए भला तुम देखो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो ये नेमतें तुम्हारे पास ले आए आप देखिए हम किस किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं फिर भी वो मुंह मोड़ लेते हैं